જયકારો રાધા ભગવાન Senhor. दादा भगवान ना असीम जय जयकार चले दादा भगवान ना असीम जय जयकारो दादा भगवान ना असीम जय जयकारो दादा भगवान ना असीम जय जयकारो दादा भगवान ना असीम जय जयकारो बोलो जय दादा भगवान जय बोलो रे बोलो रे जय दादा भगवान जय दादा भगवान जय दादा भगवान जय दादा भगवान जय दादा भगवान जय बोलो रे बोलो रे जय दादा भगवान जय बोलो रे बोलो रे जय दादा भगवान जय दादा भगवान जय दादा भगवान जय दादा भगवान जय दादा બોલો રે બોલો રે જય દાદા ભગવાન જય બોલો રે બોલો રે જય દાદા ભગવાન દાદા ભગવાન હવે અમે તમને જવા નહીં દઈએ દાદા ભગવાન હવે અમે તમને જવા નહીં દઈએ દાદા ભગવાન હવે અમે તમને नहीं दैये दादा भगवान हवे हम तमने जवा नहीं दैये दादा भगवान Cali na सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद ताराचंद जी ये किसने किसने बनाया है ये नमो वितरागाय कॉलेज के बी हैप्पी अहो अहो सत्याईसवा जन्मोत्सव सबका भला हो सबका मंगल हो सबका कल्याण हो दादा भगवान ना सिम जय जयकार हूँ જન્મોત્સવ સત્યાસીમાં કનુ દાદાજી ના આનંદ ही आनंद तो है दर्शन में आप तो भय जादूगर मुझे नचाया छम छम शहर गांव दुनिया में मैं तो जाऊं बलिहारी तारे चरणों में है बड़ा ही उपकार ऋण चुकाया जा नहीं सकता अंदर से भान प्रगटा एक महालाज श्रीमंत्र त्रिमंत्र व एक माला असीम जय जयकार हो रोज नित्य रखता एक एक माला इसे कर लो स्वीकार मेरी कृपा से होगे भवपार दादा भगवान से प्रार्थना नमस्कार जुग जुग जीवो अरे हजारों साल क्या करते हो हाँ वो तो है ही भावना चिरंजी बने रहो इस तरह जगत कल्याण करते रहो हर साल सिंह द्वार अलवर पधारते रहो साहब आप हमारे शरीर को ले आएंगे तो ज़रूर आएंगे शरीर तो अपना काम करेगा हाँ जरूर जरूर आपके साथ ही है जयतु जयतु दादा भगवान कलयुग में सत्युग का दीदार दादा भगवान ना असीम जय जयकारो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु जय सच्चिदानंद अलवर से आए सभी महात्माओं का कोटि कोटि प्रणाम निवेदक सेवक लघुतम भावे ताराचंद अलवर वाह चलो દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો શુદ્ધાત્મા અ, આ કોણ છે અનંતના अनंत रंग का कौन है अनंत हाँ अ, तू है अच्छा अच्छा अहमदाबाद कहाँ से आया अहमदाबाद में है तू हम्म अब क्या करते हो हाँ चार्टर्ड अकाउंटेंट आपका प्रैक्टिस चलती है ओके बैठिए बैठिए रंका जी महीना कौन सा स्टेट कहाँ अ, गुजरात राजस्थान तो है लेकिन जगह कौन सी जी हाँ घर सिवाना गढ़ सिवाना राजस्थान। ओहो अच्छा हाँ ये समझ गया समझ गया ગઢ સિવાના ઠીક છે હમ, હમ. શુદ્ધાત્મા જોવા એટલે કઈ રીતે જોવાના છે એ ખાલી ખ્યાલમાં જ રાખવાનું છે ને કે એ શુદ્ધાત્મા છે કા- કારણ શુદ્ધાત્માનો કોઈ આકાર તો છે નહીં અને દસ વીસ લોકો હોય તો એક સમય બધામાં જોઈ લઈએ તો ચાલે કે નહીં એક क्षमता જોઈ લે તો ચાલે ये ખરું. पहला प्रश्न है आपका राका आपका राका जी पहला प्रश्न है तुम कब से आ, सत्संग में आते हो हाँ जी दस ग्यारह साल से अहमदाबाद માઇક આપજો कौन कोना ગોસરાજ જીના પાર્ટનર નહીં ગામના છે શિવાના તો ગામના તમે સાંભળ્યું એ જાણો. માઇક આપજો માઇક વાળા ભાઈ માઇક આપજો ठीक है ठीक है ठीक है शि- शिवाना के तो उसमें आपता तो पुत्रों से सत्संग कभी हुआ है या सत्संग की सभा होती है वहाँ आए हैं आप हाँ बहुत बार आया हूँ बहुत आए ना हाँ ज्ञान लिया है दादा गुरुवार रविवार ज्ञान कब और છે જ્ઞાન કબ ઓર लिया था ज्ञान मैंने पार्शनाथ पे लिया था तो क्या बोलते पार्शनाथ चैम्बर्स पे हाँ, हॉल में कौन सा में। साल कौन सी रफली टू 2007 2010 ठीक है तो सात सात तो 2007 से आज कौन सी साल हो गई आज हो गई 2016 सो सिक्सटीन हाँ और आप है देरावासी या स्थानकवासी डेरावासी पक्का हाँ पक्का चंपा चंपावाड़ी देखा है हाँ देखा है ना पक्का पक्का अच्छा तो आपको करीब 10-11 साल हुए सत्संग इतना आपका अटेंड किया है और प्रथम दिन ही जो ज्ञान का बीज आपके अंदर बोया गया था वो किसी ने नहीं बोया था लेकिन आपका पुण्य के कारण वो ज्ञानी पुरुष के निमित्त से ये प्रयोग में बना क्या बताया ज्ञानी मेरे पुण्य के कारण ज्ञान ज्ञान प्राप्त करने का प्रयोग जो होता है वो क्रिया का प्रयोग नहीं है क्या बताया क्रिया का प्रयोग नहीं है क्रिया का क्रिया हम शरीर से होती हुई सभी क्रियाओं को क्रिया बोलते हैं ऐसा है कि नहीं हाँ बरोबर है सारा जैन समाज में मान्यता है कि नहीं बरोबर है ठीक है बरोबर है लेकिन आपको जो बीज बोया गया वो बीज आपके अंदर खुद बीज स्वरूप हुए और ये राका जी है आपका नेबरर हो गया बरोबर ठीक है ને બરાબર તો નેબર ઢંગ से આજ્ઞા ધર્મ સે અમે ए मैं जो राका जी हूँ सीए हूँ प्रैक्टिस करता हूँ सिवाना हूँ उनका पुत्र हूँ वगैरह वगैरह वगैरह हाँ। जहाँ जहाँ हूँ लगा हाँ। वो तो हूँ व्यवहार में रहने वाला है बराबर है लेकिन आपका असल हूँ आपको प्राप्त हुआ बीज स्वरूप से और हाँ। इतना साल में उसने कितना प्रगति की है आपने बराबर तो ये जैन प्रश्न है आपका जैन બરોબર કે શુદ્ધાત્મા જોવા કઈ રીતે જોવાના એટલે એમાં શું जो થાય आज्ञा है रिलेटिव व्यू पॉइंट से मैं अनंत हूँ हम्म, क्या बताए बोलो रिलेटिव व्यू पॉइंट से मैं अनंत हूँ और रियल व्यू पॉइंट से मैं शुद्ध आत्मा हूँ रियल व्यू पॉइंट से मैं शुद्ध आत्मा हूँ अच्छा तो अभी आप शुद्ध आत्मा हो गए हैं पूरे हाँ, नहीं पूछता हूँ नहीं अभी मतलब हूं मैं हाँ, तो लेकिन अनुभव बाकी हाँ तो अभी आपको शुद्धात्मा स्वरूप से जो बीज एक व्यक्त होके ऊपर आ गया है हाँ, इतनी प्रगति की है आपने हाँ जैन मार्ग में संस्कारी कुटुंब में है बराबर उसमें आपको जो प्रतीति बैठ गई हाँ वो प्रतीति प्रज्ञा के स्वरूप में काम करती है अनंत और शुद्धात्मा के बीच समझ में आया बराबर क्यों कि अभी शुद्धात्मा होना है क्या शुद्धात्मा होना बाकी है प्राप्ति हो गई लेकिन प्राप्ति पूर्ण करनी है हमें बराबर और इसीलिए आज्ञा वो ही धर्म है आपके लिए पांच आज्ञा हम्म। जो सारा अनंत का व्यवहार में से सारा जीवन सही ढंग से ये हम्म। शुद्धात्मा पद और उसको कोई बाधा ना आवे अंतराय वगैरह आवे हम्म। लेकिन हमें शुद्धात्मा स्वरूप से हम रख रह सके ऐसा पुरुषार्थ दो आज्ञा से है व्यवहार दृष्टि और निश्चय दृष्टि उससे प्रैक्टिस बहुत मांगती है क्योंकि जन्म से आते हुए आज ये सब आया आगे का लेके आए थे और स्टॉक तो निकला हम्म। लेकिन जन्म से जब जब तक ज्ञान लिया वहाँ तक का था वो भी निकल गया बराबर लेकिन आगे जितना किया हुआ था वो किया हुआ सारा जीवन में निकलता जावे शुद्धात्मा दृष्टि से शुद्धात्मा प्रकाश में समझ में आया बराबर क्यों कि शुद्धात्मा क्रिया करने वाला नहीं है वो आपको विधि बताई है विधि रोज अवश्य करनी वो, मोक्ष मार्ग के लिए आवश्यक है क्या बताया मोक्ष मार्ग के लिए आवश्यक है आवश्यक बताया क्यों आवश्यक बताया क्यों क्यों वो आज्ञा है ये <coughs> पंचम काल है और पंचम काल के हिसाब में जो अनंत राका जी है हाँ। उसका सारा व्यवहार उनके पास है वो लेके आया है वो व्यवहार में से हमें पसार होना है शुद्ध आत्मा दृष्टि से अभी समझ में आया हाँ आया तो आपको प्रश्न करते हैं कि हाँ। कैस, कैसा देखना तो शुद्धात्मा जोना जो पूछा आपने हाँ, हाँ। तो हम जैसी ये चर्म चक्षु से हम देखते हैं इस ढंग से प्रश्न हो गया हाँ। शुद्धात्मा जो महीना आपने आगे लिखा है ख्याल में रखना है हम्म, तो हम्म। समझ में रखना है बराबर लेकिन अभी और व्यवहार में अनंत को जो व्यवहार उनका जो भी है वो व्यवहार में वो व्यवहार से निकलना जाना है लेकिन मैं शुद्धात्मा हूँ वो प्रैक्टिस से आपको सही ढंग से कहीं अच्छा स्टेबल हो स्टेबल तो नहीं हो सकता है हम्म, हम्म। लेकिन पक्का हो जा रही है बरोबर शुद्धात्मा दृष्टि बरोबर ये तो प्राप्त हुई है बराबर है हाँ आनंद हम्म। की दृष्टि के साथ बराबर है ये बहुत जरूरी है समझ गए तो आगे पूछते हैं कारण शुद्धात्मा ना कोई आकार है वो तो आकार कहाँ है आकार नहीं है हाँ। इसलिए देख सकता है आकार वाला नहीं देख सकता आकार वाला तो ये अनंत है वो समझ में नहीं आया अनंत है आकार वाला तो आकार ही देखेगा ना बराबर और तू इस ढंग से पूछता है कि मुझे उसको आकार नहीं तो मैं कैसे देखूँ हम्म, हम्म। हाँ मतलब वो अभी मैं देख रहा हूँ मतलब मैं जो प्रैक्टिस कर रहा हूँ वो सही लेकिन उसको दिव्य चक्षु बोलते हैं क्या दिव्य चक्षु दिव्य चक्षु समझ में आता है हाँ। दिव्यचक्षु मैना सम्यक दृष्टि हम्म। सम्यक दर्शन हम्म। समझा कि नहीं समझा तो सीए में तो पढ़ाई नहीं आता कि दर्शन क्या चीज है नहीं नहीं आता आंखों का आंखें देखते हैं दर्शन सब करते हैं सब सबका हम्म। हाँ हाँ तेरा पहचान वाला हो कई तरह तू सिवाना जाता है कोई इतना अच्छा बचपन से पहचान वाला था और कहीं पति कितने साल के बाद अभी मिला उसको हम्म। अरे अभी मिलता है तू कहाँ था तेरा दर्शन ही नहीं होता था ऐसा बोलते नहीं है व्यवहार में हाँ वो बोलते वो तो आंखों वाला बोला हाँ, हाँ वही तो बोल रहा हूँ शुद्धात्मा का नहीं बोलता हाँ नहीं बोलता शुद्धात्मा का बोल सकता है नहीं नहीं बोल सकता सच्ची बता बताने नहीं नहीं बोल सकता कितना नहीं कितना टका सच्ची है हंड्रेड परसेंट बस तो बच कर <laughs> तो इतना ख्याल कर ले बराबर हाँ हम्म, हम्म। सभी बैठे हैं सभी हम वहाँ प्रत्येक की शुद्धात्मा शुद्धात्मा स्वरूप से स्वतंत्र है हम्म। स्वभाव से एक ही है बराबर सोना स्वभाव से एक ही है लेकिन सोना के सिक्के हजारों पड़े हैं उसका ढग ढग बेड़ा ढिग पड़ा है उसमें वो सिक्के अलग है लेकिन उसके अंदर जो सोनापन है सोनापन वाला हम्म। वो धातु सोना की वो एक ही स्वभाव की है समझ में आया बराबर है ऐसा स्वभाव एक का है लेकिन हम्म। हर एक का पुद्गल अलग है व्यवहार अलग है उसके कारण उसके अंदर ये पांच इंद्रिया है वो इंद्रिया से जो अनुभव होता है उसमें इतनी आदत हो गई है तो आदत से छुटकारा पाना बहुत ज़रूर है वो चौथी आज्ञा में बताया आपको चौथी चौथी आज्ञा में बताया क्यों कि तीसरी आज्ञा बीच में है वो कभी जानते ही नहीं थे कभी कि कोई शक्ति है बिना शक्ति तो कोई क्रिया बनती नहीं सही बात बनती है नहीं आज का विज्ञान का युग में नहीं नहीं बनती बिना शक्ति कोई संचार होता है पूदगल परमाणु कुछ होता है नहीं नहीं होता हाँ, शक्ति तो शक्ति होनी चाहिए कि इतने बड़े सारे लोग को सारे विश्व को चलाने वाली कौन सी शक्ति होगी तो ये दादा भगवान का उनका अनुभव है कि व्यवस्थित शक्ति करता है अनंत तेरा सारा व्यवहार की बराबर तेरे को लगता है कि मैं करता हूँ लेकिन अभी वो आहिस्ते आहिस्ते मतलब नहिस्ता होता हाँ। जाएगा और शुद्धात्मा बस दिखा समझ में आता जाएगा हाँ। कि ये अनंत मैं करूँ बोलता हूँ हम्म। तो बाहर जैसा ड्रामा में स्टेज पर हम नाटक कर रहे हैं इस ढंग से बोला गया आनंद से बराबर तो आपका व्यवहार नाटकीय हो गया क्या नाटकीय हो गया नाटकीय नाटकीय व्यवहार महीना नाटक करने वाला नहीं क्या बताओ नाटकीय व्यवहार मतलब नाटक करने वाला नहीं नाटक करने वाला तो एक्टर एक्ट्रेसेस होती है सब बराबर पैसा बहुत लेते हो <laughs> क्या पैसा तू पैसा लेने को जा कोई देगा नहीं तेरे को अब बोलना नहीं है बोलेंगे तो हैरान हो जाएंगे उसका कच्चा पड़ जाएगा अंदर से ऐसा जीना है क्या बताया अंदर से जीना है हाँ बाहर बस बोलना बस नहीं बस तो दस વીસ લોકો હોય फिर भी एक ही समय બધામાં જોઈ લઈએ હા ऐसा है ना वो तू समय स्वरूप हो जाएगा तो आपको आप दिखाई जाएगा उसको आपको दिखना नहीं मतलब पड़ेगा उसके लिए कैसी प्रैक्टिस करूँ सिर्फ ख्याल में ही रखूँ वो तो ऐसा व्यवहार तो तेरा है ना बाकी हाँ व्यवहार तो बाकी है तो क्या कब पूरा करेगा हो ही रहा है ना पर ये तो पंचम काल है चतुर्थ काल कहाँ है तो पूरा मतलब हो रहा है तो चतुर्थ काल वाली जगह में निकल जा मैं तो वही तो पंचम तो काल में आज्ञा धर्म से तू सत्तर परसेंट सेवन जीरो ओके तो मेरे सीए की भाषा में सेवन टाई बोलते हैं सेवन टाई बराबर हाँ। वो सीए की भाषा है अकाउंटेंट हाँ। की बराबर हाँ? हाँ, इतना हो गया तो हाँ। तेरा मोक्ष महाविद्य क्षेत्र जहाँ हमेशा कायम का काल चक्र चौथा आला का है सारा तो वहां का तेरा स्टैंप लग गया जा तो अभी सीए करता जा हम्म, हम्म। सबका चौपड़ा देखता जा हाँ। और लोग को समझा हाँ। कि चेक से सब व्यवहार करो जो जितना शक्य हो इतना ये भारत देश है हाँ, पूरा हाँ। तो शक्य नहीं होता नहीं किसी से क्योंकि कोई करने ही नहीं देता हमें करना चाहे भी कोई नहीं करने देना तो जबर मजबूरन जो करना पड़ता है हाँ। उसमें किसी का दोष नहीं है ऐसा वितराग भगवंत ने बताया दादा भगवंत ने बताया नहीं पर हम क्लाइंट को तो ऐसी एडवाइस देंगे मजबूरन समझ में आ, आता है तेरे को हाँ आता है ना हाँ? हाँ। मजबूर में हमेरी एक इच्छा नहीं होनी चाहिए बरोबर हम्म नहीं तो ये ये चीज ऐसी है ना कि वो इच्छा कराने वाली ही है हम्म। अरे इतना हो तो थोड़ा कर दो ना ज्यादा <laughs> मतलब हम तो वही एडवाइस <laughs> मतलब हम तो क्लाइंट को वही बोलेंगे कि टैक्स कम भरो ऐसा શું કહે છે हम तो क्लाइंट को ऐसे बोले कम भरो <laughs> वो तो आपका धर्म है सीए हाँ, का वही बोल रहा हूँ तो फिर उसके नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए सीए को तो बोलना चाहिए कि ऐसा हिसाब रखो कि ऑडिट में पास हो जावे भले थोड़ा गड़बड़ कर लो लेकिन इतना रखो पकड़ाओ नहीं बराबर कितना अच्छा माहिर भगवान के समय में बहुत बड़ा चोर था एक रोहिणी हाँ। यही बोलते हैं कुछ बराबर इतना वो आर्टिस्ट था बड़ा बराबर है सबको बोल के जाता कि मैं ते मेरे ते मेरे घर में आके ले जाने वाला हूँ बराबर है और पीछे करता था वो करता लेकिन किसी को मालूम ना पड़े बराबर है बड़े बड़े लोगों के घर में और राजा हैरान हो गए श्रेणी राजा क्या करता है पकड़ा था ही नहीं तो उनके अभय कुमार उनके चिरंजीवी को उसको दिया कि तो बुद्धिशाली है मेरा चीफ मिनिस्टर उसको सौंपा अच्छा मैं पकड़ूंगा उसको हम्म, हम्म, हम्म। बोलो ऐसी बात है तो रोहिणी चोर ने उसके बाप से उनके दादा से एक ही शिक्षण मिलता रहता था और बाप से मिला शिक्षण तो कि देख बच्चा तू सारी चोरी की कला बिल्कुल आत्मसात कर लिए उन्हें वो विद्या हो गई है साथ तेरे को लेकिन एक बात मेरी ख्याल में रखना जहाँ ये आज काल में ये काल में वो महावीर भगवान बोलते हैं वो जमा है वहाँ उसका जो देशना चलती देशना तो समझेगा कैसा हाँ। फिर भी अपने जैमिक जैन की भाषा में बोलते हैं तो वहाँ भूल से भी नहीं जाना अगर जाओ तो ऐसा कान बंद कर देना उसका एक शब्द तेरे अंदर न जावे बराबर ऐसा उसको सूचन दिया गया था उनके पप्पा से बराबर पप्पा लड़के को सही सूचन देता है कि नहीं <laughs> जैसा पप्पा का धंधा ऐसा वो तो नहीं वो तो सही बात है ना व्यवहार है आज वो तो सभी काल में ऐसा होता है तो वहाँ था अभी हुआ योगानुयोग तो जाते जाते थे सभा और वहाँ से उसका जाना हुआ ज़्यादा हुआ आगे थोड़े ही आगे थे बाकी था तो उसमें इतना बड़ा कांटा हो जो कितना पावरफुल हो इतना कांटा जाए तो कांटा सुल हाँ हाँ बहुत बहुत भारी हो जाते हैं बराबर इतना थोड़ा जाके टूट जाता है लेकिन बहुत हैरान कर देता है हाँ? तो कांटा हो गया हाथ निकल गया हम्म। निकालने में उसमें वो उन्हें एक वचन आ गया भगवान की वाणी चलती है और उनको पूछा जाता है प्रश्न कि देव लोगों को छाया होती है या नहीं, नहीं। क्या बताया देव लोगों को छाया होती है या नहीं तो भगवान जवाब देते हैं देवों को छाया नहीं, नहीं होती।, होती बस इतना ही गया हम्म, हम्म, हम्म। खत्म हो गई बात पीछे लगा दिया ज़्यादा नहीं जाना चाहिए मुझे नहीं तो मेरा धंधा मेरा हाथ से निकल जाएगा बराबर तो बोलो और उसमें अभय अभय कुमार ने इतनी युक्ति लड़ाई वो भी अच्छे थे लड़ाई उसको फंसाया और समझा के जा रहा है अभी आया है नदी तो वो पकड़ा लेकिन वो उसमें छटक छटकने जाता था छटका तो अभी तो चारे बाजू सिपाही पैरा है सब कहाँ जाऊँ तो वो बोला कि भगवान बड़ा सेफ है चलो उसके नज़दीक बैठ जाओ तो वो तो कर नहीं को करने पाएगा वो तो हम्म। तो उनका ये है ना भगवान के नज़दीक भले राजा बैठा हम्म, हम्म। तो वहाँ चला गया तो कुछ नहीं कर पाया कुछ नहीं कर पाया और अभय कमर हैरान हो गए कि कभी ये तो बहुत होशियार है कभी सरक जाएगा कहाँ क्या मालूम नहीं पड़ेगा कुछ रास्ता निकालना पड़ेगा तो उसने श्रेणी राजा को पूछा आज तक कैसा है तो श्रेणी राजा भगवान को पूछते भगवान ये है ये आया है पकड़ा गया है यार तो अच्छा तो भगवान को पूछते तो तो राजा करे तो राजा को जाते हैं करते हैं ना पीछे राजा ने अभय कुमार ने ट्रिक बताई ट्रिक कि चलो एक को पहचानना है और ये चार खड़े हैं सभी आकार सभी के एक है तो बोलता है ना हम्म। क्या चेतन को आकार नहीं है हाँ हाँ पर चेतन तो अंदर शरीर के अंदर है बराबर तो आकार में ऐसा निराकार रह सकता है हाँ रह सकता है ना तो तेरे को अनुभव हुआ है स्वाद आया थोड़ा थोड़ा थोड़ा आया है बस तो <laughs> ये, ये देखना समझा ने तो बोला परीक्षा कर दी तो उसने देव लोगों को उनकी संज्ञा चलती है इसे ऊंचे ऊंचे ज्ञान में है ना ऊंची कक्षा में हाँ, संज्ञा हाँ। चलती है साहब ऐसा बराबर तो संज्ञा में आ जाते हैं और एक एक को जोते हैं सभी सरखे लगते हैं कौन सच्चा उसमें मालूम नहीं पड़ता हुँ? हम्म? तो क्या करता है लेकिन वो भगवान का वचन आया तंग साया नहीं होती है बराबर और हमारे व्यवहार में बोलते हैं देव लोग धरती पर पाँव नहीं उसका स्पर्श होता बराबर व्यवहार बोलते हैं और इसीलिए पारसाद भगवान हाँ हम्म। कौन से जी जीरा वाला का क्या जो अद्दर है नीचे से कागज निकल जाता है ऐसा जैनों में मान्यता है पराशर हैं जे जो है है वो बोलते नीचे स्पर्श ही नहीं होता ये तो एक लोक वायका होती है हम्म, हम्म। और लोक वायका में अपने धर्म जो भी मानते हैं इसमें हमारी श्रद्धा बड़ी पक्की बनी रहे उसके लिए ऐसा होना ही है हुँ? हम्म? उसमें कोई नवीन बात नहीं है तो बोला देखा हो तो साया दिखाई पड़ी कि ए तो वो छूट गया वो तो बराबर हाँ? हम्म। तो चोर को चोरी करता था हम्म। वो पकड़ा नहीं जाता था फिर भी हम्म। देखो उसको मुक्ति मिली ना मिली तो भगवान के पास बैठ गया पीछे तो बराबर हाँ, हाँ। तो ऐसा अनंत का अभी तेरा गॉइन गोल्डन है गोल्डन है कि अभी का जो दस रुपया का कॉइन बनाया ऐसा है समझा नहीं तेरा तेरा कॉइन कैसा गोल्डन कॉइन है दस रुपया का नहीं वो सरकार ने बनाया वो नहीं वही है नहीं गोल्डन है हैं गोल्डन है अच्छा मतलब अभी वो कॉइन जब नया है फर्स्ट क्लास तो हम्म। कितना अच्छा करता है आज के इसने आवाज नहीं करता हमारे ज़माने में रानी छाप रुपया था बराबर रानी छाप बोलते हैं क्वीन हम्म, विक्टोरिया हम्म। की छाप वाला बराबर हम्म? તો उसको जब हम लगा रूर करते उठावे ने तो એટલો અવાજ करता था उसमें चांदी का और ज़्यादा था चांदी वाला बरोबर हाँ हाँ मैं आगे की बात करता हूँ सितर पचहत्तर साल के आगे बरोबर बड़ा मज़ा था लेकिन कोई गलत वाला है बनावटी तो उसमें आवाज़ नहीं आता था समझे ना समझा तो ऐसा अनंत का सिक्का ऐसा आवाज़ ना करे ऐसा हो जाना चाहिए क्या बताया आवाज़ ना करे वैसा हो जाना चाहिए वो बोले ज़रूर हम्म, हम्म। सबको इनविट सब सलाह दे सब कुछ दे लेकिन खुद ना बोले ओके हो जाएगा हो जाएगा तो प्रैक्टिस कर जा प्रैक्टिस चल अब तू तो बहुत पूछा है तूने तो प्रकृति प्रारब्ध के अधीन है तो प्रकृति के में क्या आता है और वाणी વાણી પ્રકૃતિમાં वो આવે भी કે નહીં? ऐसी है શું वाणी વાણી પ્રકૃતિમાં આવે કે ના આવે वाणी चेंज कर सकते हैं हाँ। ऐसा पूछा हाँ ये अक्रम विज्ञान में एक एक्सेप्शन दादा भगवान बताया है वो वितरागों का बताया हुआ है हाँ। कि वाणी हमारे हरेक की जो बोली जाती है वो खुद से नहीं बोली जाती आज किसी की ताकत नहीं शक्ति नहीं कि खुद अपनी सत्ता से एक शब्द निकाले बराबर जो शब्द निकलता है वो आगे रिकॉर्ड हो गया हुआ है इसीलिए रिकॉर्ड हुआ वही शरीर निकलता है ऐसे पुद्गल परमाणु हैं जो रिकॉर्ड हो गए हैं ऐसे पुद्गल परमाणु प्ले आउट करते हैं बज रहते हैं बराबर तो इसीलिए दादा भगवान ने वाणी को टैप रिकॉर्डर बनाया बताया तो ये महात्माओं का ज्ञान लेने के पश्चात आवाज वो न पुद्गल है न चेतन है लेकिन पुद्गल परमाणुओं का घर्षण एक दूसरे को उसका उसमें से आवाज पैदा होता है ये तो मनुष्य में इतना मनुष्य का विकास हुआ है और ये साइंस का विज्ञान का जमाना है वो ऐसा विकसित युग में शब्द भाषा कितनी विकास हो गई उसकी हम्म। तो, तो, शब्द कहीं सही ढंग से सबते नहीं ये तो पहले नहीं निकलते थे ऋषभ के भगवान में नहीं निकलते थे बराबर तू जानता है नहीं आप बोल रहे हो मतलब मान रहा हूँ हाँ। माहिर भगवान के समय में जो निकलते थे वो आज ही नहीं निकल पाते बराबर सभी जैनों को इतना तो समझना ही है हुँ? हम्म, हम्म, हम्म। समय समय की बात है नहीं हाँ? मतलब मेरा और ये मनुष्य ने जो प्रगति की है ऐसा प्रगति वाला काल ये सारा अवसर निकाल में ये सर्वप्रथम अभी आया है और ऐसे काल में दादा भगवान प्रकट हुए और ये सारे संसारी लोगों को हम लोग सभी लोगों को ये ज्ञान दिया और ये आपता पुत्र सहाय वो सभी उनकी यूथ वही में प्राइम तो उसमें भावना हो गई कि अभी जन्म जन्मांतर से यही बच्चे ही पैदा करते आए हैं अभी हाँ। नहीं चाहिए हमें बराबर तो दादा भगवान ने उन्हें सभी की परीक्षा लेके किसी की छः महीना किसी की एक साल किसी को दो साल करके ये सिक्का रुपया का सच्चा है या खोटा बराबर सबको कराया <laughs> बराबर नहीं कराया था नहीं सबको बराबर कठिन तपस्या दी और पीछे गए अच्छा चारों तो एडमिशन दे दिया वितरक कॉलेज में क्या बताया एडमिशन दे दिया बाद में पहले चेक किया बाद में कौन सी कौन सी कॉलेज में वितराग कॉलेज में हाँ? वितराग वितराग कॉलेज वितराग में ना क्या हाँ वितराग कॉलेज कैसी होती है वितराग कॉलेज कैसी होती है ये ऐसी होती है आसान से एडमिशन मिलता है उसमें नहीं नहीं मिलता <laughs> लेकिन तेरे को साधु होना हो तो तेरे को एडमिशन मिल जाएगा होना है हाँ। आप आशीर्वाद दे दो भोसराज जी पूछो अरे मैं क्यों आशीर्वाद दो लड़का है क्या नहीं तेरे को लड़का नहीं नहीं अभी शादी बाकी है अरे अच्छा अच्छा शादी करनी पड़ेगी बिना शादी करे ये आत्मा का तो शुद्ध आत्मा का अनुभव मंगता है ना वो होने वाला नहीं है मेरा तो ये मेरा एक्चुअली एक क्वेश्चन था ही मतलब हाँ? मेरे को पूछना ही था मुझे आपको मेरे को कंफ्यूजन था कि करूं कि ना करूं करूं कि ना आपने आंसर दे ऐसा कर आज हाँ? कभी साहब तो है ही नहीं क्या करूं हाँ? साहब है तो नहीं जो शादी जिसने की है हाँ? उसका जो अनुभव है अनुभव में से कोई ऐसा कोई है ही नहीं हाँ? जो तटस्थ होना चाहिए नहीं शादी का पक्ष रखता है न न शादी का पक्ष रखता है ऐसा होना चाहिए ये आपका तो पुत्र पड़े खड़े है उसके ऊपर पूछ तू जा तू अहमदाबाद में है ना हाँ। जयमेशानंद जी को पूछ ले जा ओके भाई समझाना उसको हाँ नुस्खा समझा देना है टच टच का हाँ तो उसको डिसीजन में आ जाए शादी करनी या नहीं बराबर हाँ समझा हाँ, देना चलो आगे कनूदर इधर इधर हाँ। मेरा मतलब इधर इधर मैं ही मैं हूँ अनंत આનંદનો જ પ્રશ્ન છે હજી ચાલુ છે अ, हाँ बोल बोल मतलब रहे। मेरा मेन उसमें क्वेश्चन इसलिए था कि अपने कुछ बोल लेते हैं ना बाद में ऐसा होता પ્રકૃતિ कि પ્રારબ્ધને અધીન છે नहीं, પૂછ્યું તે हाँ पर तो इमा प्रारब्ध क्या चीज है कि आगे हमें जो जो किया उससे वो प्रारब्ध फॉर्मेशन हो गया उसका और फॉर्मेशन हो के पूरा हो गया तो उसका अंत आते ही तू जन्म पाया वहाँ वो सब जन्म प्रकृति के स्वरूप में पाता है लेकिन आखा लाइफ का जीवन दरमियान का प्रारब्ध हो गया हुआ बंधा हुआ ऐसी प्रकृति होती है सो so, प्रकृति में सब कुछ आ गया वो समग्र शब्द है हम्म। और प्रारब्ध तो ऐसे समय समय से बनता रहता है और समग्र एक हो जाता है इससे शरीर बनता है समझा कि नहीं थोड़ा थोड़ा करने करने के भाव से करने के भाव से प्रारब्ध बनता है क्योंकि आत्मा शुद्धात्मा का शुद्ध उसकी क्रिया करने की है ही नहीं उनकी क्रिया जानने की है क्या बताया उसकी क्रिया जानने की है करने लेकिन की बिना देखे जाना कैसा जाएगा बिना देखे कैसे जाना जाएगा हाँ ये ये अनंत क्या है कैसा है वो तो जानू तो सही में बरोबर है और अनंत को जो समझ में आया जान लिया बरोबर सही ढंग से हाँ। तो तभी जो देख लिया हम्म। तो वो जाना हुआ तेरा खुला होगा बराबर देखने में दर्शन बोलते हैं और जानने में ज्ञान प्रकाश बोलते हैं प्रकाश एक ही है हम्म। लेकिन दो सिक्के की दो पहलू है दर्शन महत्व का है क्या बताया दर्शन ज्ञान महत्व का नहीं है नहीं समझा ज्ञान तो बीच से बोया जाता है और बोया गया बीच से दर्शन पहला खुला होता है जैसा पतंग बटरफ्लाई को क्या बोलते हैं हिंदी में पतंग बटरफ्लाई टिटली टिटली बटरफ्लाई बोलते हैं ना हाँ हाँ हाँ तो बटरफ्लाई जैसे आता है तो उसकी ये देखने की पुद्गल की शक्ति खुली होती है उसको उसके नीचे के जीव में नहीं हो बराबर उसको पहली तो देवा प्रकाश देखते ही वो आकर्षित हो जाता है बराबर है परवाना शब्द सुना है ना दीवाना तो सुना है ना हाँ, दीवाना <laughs> दीवाना परवाना हाँ। दीवाना परवाना तो वो जाता है जानता है गर्मी लगती है फिर भी उसको आकर्षण होता है ये राग उसको बोलते हैं राग में ऐसा आकर्षण होता है क्या बताया राग में ऐसा आकर्षण देता है राग में आकर्षण करने का गुण नहीं है हाँ। लेकिन हम उसमें भरे पड़े हैं इसीलिए वो राग हमें आकर्षित करता है समझे कि नहीं बराबर और क्यों इसीलिए तो तू निर्णय पे नहीं आ पाता કે शादी में कर करनी के नहीं बराबर नहीं तो निर्णय आ जाता अगर आगे से ऐसा लेके आया होता तो ओके तो अब आगे ऐसा कंफ्यूजन ना हो उसके लिए क्या करना है कितनी उम्र हो गई आपकी मेरी ट्वेंटी फाइव पच्चीस पच्चीस ये तो बहुत उम्र वाला हो गया तो ये आपता पुत्र से मिलना हाँ, हाँ। अहमदाबाद में चार तीन चार है पाँच है सभी को एक एक से मिलते रहना उनसे बात समझ लेना बरबर है बरबर अभी आगे लास्ट है ज्ञान के पीछे नहीं पढ़ना है ऐसा आपे एक सत्संग में किया कि कहा और विस्तार के समझने मेरी रिक्वेस्ट हाँ। है ज्ञान के पीछे नहीं पढ़ना ना कि एक ज्ञान ज्ञान जैनों में ज्ञान की भाषा में इतनी उनकी लगाव होती है कि हम्म। वो लगाव में से निकल नहीं पाते जैसे जैसे शास्त्र और शास्त्राभ्यास होता रहता है जितने ढंग से अपनी शक्ति के अनुसार कोई भी और मेरे से सुना जाता है हम्म। समझ में आया बराबर जो सुना जाता है वही समझ में पक्का होता जाता है तो हम तो सांप्रदायिक दृष्टि से जैन परिवार में जन्म पाया हमने हम्म। वैष्णव परिवार में वैष्णव ने पाया हम्म। शिव पर शिवती भक्ति वालों ने शिव में पाया त्रिमुख्य है हम्म। वैष्णव और शिव वो हिंदू धर्म वेदांत में है वो सब हम्म, हम्म, समझे कि नहीं और जैन जैन है दोनों दर्शन है दर्शन बराबर दर्शन मन से दृष्टि जितनी विकसित होती है और नॉन बायस निष्पक्षपाती होती जाती है वो दोनों तरफ से असर की होती जाती है लेकिन जैन वाला ही नहीं बोल सकते तो हम ऊँचे आगे जाते हैं तुम पीछे आते हो ऐसे बोल नहीं सकते लेकिन ऐसे दो तटस्थ होने वाले जरूर है दोनों में आचार्य होते हैं हम्म, हम्म, हम्म। साधु होते हैं सभी सदगुरु होते हैं सदगुरु मीन सत्पुरुष समझा हाँ। तो वेदांत में भी श्रोत्रीय श्रोत्रिय बोलते हैं श्रो श्रोत्रीय हाँ मैंने जिन्होंने सम्यक प्रकार से सुना है क्या बताया जिन्होंने सम्यक सम्यक प्रकार से सुना है न जो सुनाया जाता है उसका पक्ष लेता है न मैं सु, सुनता हूँ ऐसा पक्ष रखता है वो समझने की कोशिश करता है क्या बताया वो समझने की कोशिश क्योंकि उनके हेतु है कि मुझे मुक्ति जाइए क्या बताया उनका हेतु है कि मुझे हेतु बहुत बड़ा शब्द है हेतु बहुत छोटा शब्द है हम्म। लेकिन कोई भी धर्म हो उसमें लाइफ में किसी का भी हेतु अगर हो उसमें अलग डोलक न होवे तो चलते जाए तो प्रगति करता रहता है वो समझे ने हम्म, हम्म, हम्म। समझो कि हिंदू धर्म है वैष्णव है शिव धर्म में है तो उसको भी ऐसा कोई हो विचारक पुरुष जैसे विचार में अगर आगे पड़ता जाता है तो उसमें लगता है कि फिर भी उसको समझ में नहीं आता धर्म का स्वरूप तो आचार्य को पूछने जाते हैं आचार्य जी को क्या तो उनको कहा जाता है आचार्य अनुभवी होगा तो आचार्य पद तो व्यवहार से होता हुआ ही करता है हमेशा जहाँ तक व्यवहार चालू है वहाँ तक ये पांचवा आरा में इक्कीस हजार साल पूरे हो गए वहाँ तक आचार्य पद रहने ही वाला है अर्थात त्याग पद એટલે संसारियों का पद और त्यागियों का ये दोनों रहने ही वाला है ये तो होने ही होना ही है बराबर हाँ और जो त्यागियों का पद है वो संसारियों को मार्गदर्शन देने के लिए होता है क्या बताया जो त्यागियों का मार्गदर्शन देने के लिए हम्म, कि हम्म। संसार में कैसा रहना कि संसार में रंग रंग भी नहीं लग जाए और संसार उनका चलता रहे बराबर हम्म? हम्म तो नाटक में ऐसा ही करते हैं लोग हाँ ऐसा ही करते क्यों कैसे क्यों सच्चे नहीं बन जाते ना नहीं सच्चे नहीं बनते नाटक में राजा बना हाँ तो स्टेज पर से नीचे उतर के राजा राजा का रोल के घर में जावे तो क्या होगा उसका हालत <laughs> हैरान हो जाएगा हाँ निकाल देगी उसको निकाल क्या बोलता है राजा राजा कुछ है तो नहीं अभी खाना तो ठिकाना नहीं है बराबर ऐसा बोलेगा समझा ने ऐसा जीवन तो वैसा है लेकिन समझ में आना चाहिए बराबर ये आज्ञा धर्म समझाइए आपको हम्म, हम्म, हम्म। समझे तो दादाजी ज्ञानी पाचे पढ़ना नहीं क्या कि दर्शन शक्ति जैसी विकास होती जाती है एक कविराज का एक पद है बहुत अच्छा है सिमंदर स्वामी की कीर्तन का है हाँ दर्शन मेरा भी है एक, एक, एक लाइन बोलना મારું હવે- દર્શન સાચવજો ના, ના. હે સિંહ હવે મારું દર્શન ખુલે એક સિ- સિમંદર સ્વામીનું બહુ સુંદર પદ છે હવે દર્શન એ પોતે ગાય છે એટલે મમ્મી આવીએ કે નહીં તેરી નહીં અચ્છા કંઈક એવું પદ છે બહુ સરસ છે પદ છે કવિરાજનું એક સિમંદર સ્વામીની ભક્તિનું બહુ ફાઇન પદ છે તે તને ખબર હશે નિશ્ચિત આપણે તને આપણે બગાડ્યું અમે આવતા ગાડીમાં હવે મારું દર્શન ખીલે છે કે છે એટલે કવિરાજનો અનુભવ થાય છે મોક્ષે જાતા સુધી મારું દર્શન સાચવજો हे सीमंधर स्वामी तुम शरणों माले जो हे केवड़ संदानी भव पार करी दे जो तम पोते प्रतिनी છે ને એમને જે અનુભવ થતા જાય છે ને દાદાને વચનો છે આપણા ચંદ્રકાંતભાઈથી વધારે નીકળી ગયેલા અમારાથી આગળ આવ્યું છે વાત કે આ કઈ રાતના એક એક પદ છે દાદાની કૃપાનું ફળ છે અદ્ભુત અદ્ભુત અને એ શુક્લ ધ્યાનની શ્રેણીથી બધા આજે એ રચનાઓ થયા કરે છે શુક્લ ધ્યાનની શ્રેણી કહીએ એને સમજાયું ને અને આ કોઈની પોતાની શક્તિ ના હોય કે આવી રીતે નીકળે આ બહુ વસ્તુ છે કૃપા શું કહ્યું કૃપા इस कृपा तो अनंत ये आज्ञा में सब समझ जा और दर्शन जैसा तेरा शुद्धि आएगी अर्थात अनंत का व्यवहार में जितनी शुद्धि आएगी हम्म, और अनंत का कोई भी व्यवहार उसका पक्ष तू न लेगा ऐसा स्थिति आहिस्ते आहिस्ते डेवलप होती जाएगी हम्म, तब तब तेरे को ज्ञान का स्वाद खुलता जाएगा बरोबर हम्म, समझे कि नहीं समझा। जाओ मुझे मतलब एक क्वेश्चन जो वो अभी दूसरा अभी वाला- आपका अहमदाबाद के सत्संग में पूछ लेना इस आपके पुत्रों को हाँ हाँ बस जाना जरूर जो हाँ। पूछना है पूछो ओके। आप तो पुत्र साहब आपको पूछ सकता है सब कुछ आप पूछ सकते हैं दादा आपको दावा तो नहीं करते हैं कि मैं सब कुछ जवाब दे देता हूँ ये आपका पुत्र बोलते हैं सब હા જાઓ બસ આપણે આટલું જ લઈએ આટલા બધા નહીં આ આપણી અમીએ લખ્યું છે અમી શૈલેષાનંદ સાહેબ હા દાદાજી આપણા અલકાની અમીન અમી ગાંધીનગરથી કેટલી પંદર સોળ વર્ષની છે અગિયારમીમાં આવશે હા તો સોળમી સોળમું વર્ષ તો કે છે નમો વિતરાગાય દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો રિસ્પેક્ટેડ પરમ પૂજ્ય Shri Kanu Dadaji on this auspicious day I am not able to come and secure blessings as my first term examination of 11th standard is going on. Dadaji, I have taken B group, physics, chemistry and biology. Sudhirbhai આ છોકરીઓ જે ભણવા લાગી છે આજે જબરી છે આ તો બધા પાછળ પાડી દીધા આ બેન મળશે તમને તારે કોલેજમાં નહોતું જવાનું ના તું નહીં નહીં પેલી ગઈ અચ્છા नहीं ये नहीं हमला आई हमला पहले आई थी ये तो गई ये तो निकली गया निकली गया चलो तो physics chemistry biology Dadaji give me your blessing for my eleventh and twelfth standard Dadaji one more thing that I am really scared from it is the first exam for the Hmm? Entrances in the matter. Oh, so, as he give me Shakti and Ashirvad so that I can accomplish the goal of medical. Last but not the least, many, many, many returns of the day to respected Param Pujya Sikano Dadaji, Papa, and on behalf of my family, mummy to तो बुलिंद અને આપણા દોલક ડૉક્ટર શૈલેષાનંદજીથી આખો પરિવાર પટેલ પરિવાર આખો કન્વર્ટ થઈ ગયો નવનીતભાઈ સાહેબ આખો પટેલ પરિવાર હા ડૉક્ટર નવનીત આપણે શૈલેષાનંદજીથી ચંદુભાઈ પટેલ જ્યારે દાદા ભગવાન હતા ને આપતા પુત્રો વડોદરા આવે મહાત્માઓ આવે બધા આવે એમનો જે નાનો ફ્લેટ બધાને એમાં આપતા પુત્રો ખાસ રહેતા બધા આપતા પુત્રો એ જમાનો બહુ મજાનો હતો આપતા પુત્રો માટે તો એક આપણો ભટ્ટ ડાકોરના એનો કેટલો મોટો ફ્લેટ મોટો શું વાત કરીએ આપણે ભરત ભટ્ટ બહુ મજાનો શું ફ્લેટ હતો રૂમની સાઈઝ કેટલી મોટી કેટલી મોટી હતી સાહેબ એક રૂમ અને કિચનવાળો ફ્લેટ અને એમાં કેટલા આપતા પુત્રો રહેતા હતા તમે બારથી પંદર શુક્રવાર આવે શનિ રવિ કહીને રવિવાર રાતે પાછળ કામે લાગી જાય બહુ કર્યું એમને એવી રીતે આ ટ્રેન થઈ લેશે બધા આપતા પુત્રો દાદાએ એમની પાછળ ખૂબ ખૂબ પરિશ્રમ ઉઠાવ્યો છે કે આ યુથને તૈયાર કરવા છે યંગ લોકોને મારે તૈયાર કરવા છે શું અને ત્યાર પછી તો તો બહુ સારો વિકાસ પુષ્કળ વિકાસ થયો ડૉક્ટર સાહેબ આ તમારે આશીર્વાદ આપવાના અને ખાસ હમ તમારે ફાઇલ ખરી કે નહીં પછી આ ખરું ખરું દાદાજી તો હવે કનુભાઈ ચશ્મા પહેરી લો હા સ- દાદા પહેરી લે નહીં તો આમાં આમાં ખેંચવું પડે જરા फ्रॉम अरविंद मेहता मेहता साहब आपका प्रश्न है लेते हैं हम अनुभव किसे कहते हैं अनुभव इसे कहते हैं मेहता जी कि हमें कभी जो वितराग सिद्धांत हमें प्राप्त किया है जीवन का जीवन का वो वितराग सिद्धांत हमारे किसी भी व्यवहार में किसी भी प्रकार का हो उसमें